उसको उस जंगल को ऐसा साफ ही लगा हुआ एक बार ऋषि लोग ऐसे पहुंच गए भगवान शंकर बैठे हुए थे सती जी बैठी हुई थी पार्वती जी अपने असावधान अवस्था में ऐसे ही बैठे वहां ऋषि लोग पहुंच गए तो वो पार्वती जी को संकोच हुआ एक साथ ही बिना सूचना देकर के यहाँ तो भगवान शंकर ने उनका प्रिय करने के लिए जो श्राप दे दिया अच्छा आज से ऐसे कोई इस वन में प्रवेश करेगा तो इसलिए हो जाए अब इनको बताना था ये हो गए सर अब जो है पहले तो कमियां थी अब अपने साथियों के साथ उनके साथ में सब स्त्रियां इस वन से उसमें घूमे और लज्जा के कारण लौट करके आया नहीं अपने घर जंगल में घूमता रहा चंद्रमा का पुत्र जो बुद्ध था उसने देखा एक सुंदर लड़की यहां घूम रही है उसके साथ उसका विवाह हो गया एक पुत्र को उत्पन्न हुआ उसका नाम था पूर्व अब उसको सुदिन को स्मरण हुआ अपने गुरु जी का वशिष्ठ तो जी का उसने ध्यान किया कि अब हमारा उद्धार हमारे गुरु जी कर सकते तो वशिष्ठ जी का ज्ञान किया तो वशिष्ठ जी वहां प्रगट हुए अरे क्या बात कि महाराज आपने कृपा कर हम तो पहले कन्या थे और फिर जो मित्र तो हो गए आपकी कृपा से जो बीच में हमको पुरुषत्व प्राप्त हुआ था इसलिए वशिष्ठ जी आप चिंता की मत कर तो अर्थात स्वरूप तो भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया उसने महाराज ये हमारे विद्वान का पुत्र है आप कृपा कीजिए इसके ऊपर भगवान शंकर ने कहा अच्छा जाओ कि एक महीना स्त्री रहेगा और एक महीना भगवान शंकर जी दोनों योनियों का सुख ले ले स्त्री योनि में ज्यादा सुख है तो पुरुष में और जो है जब पुरुष पुरुषत्व से प्राप्त हो गया तो अपने साथियों को लेकर के अपने नगर में आ गया और जब वो एक महीना पुरुष रहता था तब तो सभा में आता था और जब स्त्री होता था तब सभा में नहीं आता था तो वहां जनता को जब पता चल गया अरे कि एक महीना ये स्त्री है बन के रहता अब प्रजा उसका आदर नहीं करने लगी तब तो विरक्त होकर के मन के तीसरे पुत्र जो सरयासी हैं वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु मनुष्य पुत्र वो बड़े वेदों के पंडित काम यज्ञ द्वितीय के मान करने हुआ तो शरियाती के एक कन्या थी उसका नाम था सुकन्या शरियाती जो थे एक बार चरण महर्षि के यहाँ दर्शन करने के लिए गए तो कन्या ने कही पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं देखिए आज हम चरण महर्षि का दर्शन करने जा रहे हैं उनके आश्रम में जा रहे हैं तो पिताजी हमको भी साथ में ले चलो लड़की ने कहा पोषण करते चलो तो सुकन्या जो थी अपनी सखियों के साथ और वो भी आश्रम का दर्शन करने के लिए वो भी चल गई और वहां पर लोग आश्रम में पहुंच करके घर घर घूम रहे थे चलन महर्षि उन्होंने सुनाया था चलन महर्षि का आश्रम है यहाँ कभी गए तो थे नहीं उन्होंने और घूमने लगे चरण महर्षि कहा है चरण महर्ष हैं ऐसी जगह बैठे थे उनके सारे शरीर में दीमक लगी हुई थी मिट्टी का ढेर था तो ये लोग तक तो घर घर घूम रहे थे वो सुकन्या और लड़की पहुंच गई उसने कहा मिट्टी मिट्टी चारों तरफ क्या है उसने उनकी आंख चमक रही थी बस मिट्टी में आंख चमक रही थी उसने देखा ये क्या चमकीली चीज है मिट्टी के भीतर उसने कांटा लेकर के ये चोर और मसाले की छुड़वा तो उसमें से रुझेट निकला और वो लड़की डर गई अरे ये तो कोई तो कोई जीवात्मा जिसमें से रुझेट निकला है दैवीय प्रेरिता का के आध्यक्ष तस्मात रुद्रम पुत्रा तब तो एक साथ क्या हुआ कि जितने सैनिक थे जितने लोग थे पर के मलमूत्र बंद रखोगे कटी विशाखन सब सब भर सैनिकों ने कहा महाराज की महात्मा का यहां अपराध हो गया है हम लोग सब दुखी हैं अब बड़े सचिन से किसने क्या अपराध कर दिया तो स्कूल लड़की ने अपने आप कहा पिताजी मैं जानती तो हूं नहीं इसमें जो दो ज्योति चमक रही है मैंने अपने कांटा को ले लिया वहां जाकर के पता चला तो यही तो सदन महर्ष है इसके अनंतर चवन महर्षि को सबने प्रसन्न किया उनकी स्तुति की उन्होंने उनके अभिप्राय को राजा ने जान लिया उन्होंने भाई अब तो हमको दीखना भी बंद हो गया वृद्ध तो हम नहीं है पर अब तो हमारे आंखें नहीं भी अब तो हमको सेवक चाहिए कहाँ हर एक बात जाने आने सेवक सामने को देखिए तो उनका अभिप्राय को जान करके राजा ने कहा बेटी अब तुम उनकी सेवा में नहीं तो अपनी कन्या को उनके पास रखी उसमें पिता के उसको आज्ञा का पालन करती है लड़की पहले पिता ने कहा तथा सुकन्या मीन प्रीत क्या सेवा है बड़े प्रेम श्रद्धा से चवन महर्षि की सेवा पूजा करने लगे एक समय अश्विनी कुमार उनके यहां आए और उनकी पूजा की उन्होंने चवन महर्षि और वो बोले चवन महर्षि हे सब वैद्य उनको और देवताओं के वैद्य थे नमक मम स्त्री नाम स्थितम रूपम संसार ऐसा कर सकते हैं कि तो मेरा शरीर में युवा अवस्था आ जाए और सुंदर रूप हो जाए तो बोला ये हम कर तो सकते हैं पर आप हमारे लिए क्या दोगे तो चलन ऐसे बोले कि तुम देवताओं की पंक्ति में नहीं बैठ सकते देवताओं की पंक्ति से बहस करते तो हम स्वयं पूर्ण पात्र देवताओं की पंक्ति में आपको हम्म। पीने के लिए हैं सौ सुन पापन दासन तो लगे अच्छा ठीक है तो अपने सिद्ध निर्मित हृदय निमज्ज जाओ हमारे साथ तो चवन महर्षि को लेकर के सिद्धों का बनाया हुआ एक तालाब था उसमें उन्होंने गोता लगाया और गोता लगाते ही तीनों का एक सा रूप हो गया पुण्यता स्वयं पुरुषार्थी एक से तीनों के गए कोई पहचान बिल्कुल नहीं कर सकते सब के तीनों के दिव्य रूप हो गए और सुकन्या देवी अरे मैं ये जानती हूं इनमें एक तो मेरे पति है और दो तुम देवता हो और मैं ये नहीं जानती मेरे पति कौन है क्या स्वरूप बदल गया है आप कृपा करके बताइए कि मेरे पति कौन है देवता लोग जो हैं अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और कहा ले देवी ये तुम्हारे पति पति दर्शेता ऋषि मानंतर सर्वम लोग उनके पास उनको छोड़ करके और देवता लोग वहां से चले अब शरियाती ने ये विचार किया कि मैं अपनी कन्या को वहां छोड़ आया हूं वृद्ध पुरुष के पास ऋषि के पास तो कैसे रहती होगी क्या खाती होगी क्या पीती होगी चलो एक दफे देख करके तो आऊं तो वो अपने साथ से सामान ले करके और अपनी कन्या को देखने के आया तो देखा कि एक बुद्ध पुरुष के पास तरुण पुरुष के पास वो कन्या बैठी है तो राजा जो है दुखी हो गया और आगे सुकन्ये गया इधम किन चीज कि क्या इतने क्या किया सर्वदेव नमस्कृत जो वृद्धपति उसको छोड़ करके तुम तो जा रहे से अरे मैंने जिसके लिए तुझे दिया था तू उसको छोड़ करके किसी जार पुरुष उसके पास बैठी है अरे तू तो अच्छे कुल उत्पन्न होने वाले कल्याण है तेरी लिए विपरीत बुद्धि क्या होगी एक सत्तर तक जाना था जो आपके जानाता है ये वही है फिर तो सारी कथा सुनाई तब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपनी कन्या को हृदय से लगाया तब उन्होंने चरण महर्षि में राजा से यज्ञ तक सोमवास तक और सोमयाग में सोम सोमपूर्ण पाप से लेकर के उन्होंने उनको दिया अश्विनी कुमार जब उनको सोम पात्र दिया जा रहा था तो समय इंद्र शोध करके आया अरे ये सोम पान के अधिकारी नहीं है इसलिए उसने इंद्र ने वज्र उठाया राजा को मारने के लिए तेने ऐसा क्यों किया इनको सोम पान करा रहे हो इनको अश्विन कुमार जब उसने वज्र उठाया तो चलन महर्षि ने इसको वहां का भी रोक दिया आपको और हाथ में घर हो न स्तंभित कर दिया सबजन हस्तम स्तंभ आना तब तो उनकी भी अकल ठिकाने आ गई इंद्र महाराज हमारा अपराध क्षमा कर बस आज से इनको सोमपूर्ण काम देवताओं की पंक्ति में सोम काम करने को मिलेगा इनको इस प्रकार इसी तरह से परंपरा से नहाए हुए तस्य तपदी ज्येष्ठम पुत्र शतम जाति समुद्र पुष्ठस्थली आनस आनस के रैवत और रैवत ने समुद्र में पुष्ठस्थली का निर्माण किया और वहां उसके रैवत के सौ पुत्र थे उसमें कपुदनी सबसे बड़ा था अब कपुदनी जो है स्वाम रेवती कन्या है शरीर जो था शक्ति था हजार उसकी कन्या रेलसी थी बड़ी सुंदरी थी बड़ी गुणवती थी और राजा जिसको देखे तो अपनी कन्या के समान कोई उसे कई ने दिखाई उसने सहस्त्रों लड़के देखे पर जैसी कन्या है वैसा उसको कोई लड़का दिखाई नहीं तो विवाह कैसे करें तो अंत में उसने ये निश्चय किया कि हमको तो पता नहीं कि इसका विवाह किससे होना चाहिए ब्रह्मांड को तो पता होगा ब्रह्मांड ने कोई तो इसका बर होगा निश्चित किया होगा तो चलो ब्रह्मलोक में चले तो अपनी कन्या को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे इतनी बात की चंद्रलोक आदि तो बहुत नीचे हैं ब्रह्मलोक तो सबसे ऊंचा है और कन्या के लिए वर पूछने के लिए ब्रह्मलोक में गया क्या साधन थे हम लोग का कल तो मार दो और किन क्या साधन थे जो अपनी लड़की को भी ले गया और अपने आप चला गया तस्करी की का हेलीकॉप्टर था क्या <coughs> है इतनी बात पूछने के लिए और वहां जाकर के पहुंचा तो वहां वो असली जो ब्रह्म लोग थे सतलोक एक मेरू पर्वत पर ही ब्रह्मलोक होते हैं जहां और दूसरे ब्रह्मा भी बोल रहे हैं तो उस ब्रह्मलोक में पहुंचा तो वहां गंधर्वों का दाना हो रहा तो उसने कहा कि जब दाना वाना समाप्त हो जाए तब तो मैं अपनी बात कहूं तो थोड़ी देर हुई गंधर्मों का गाना समाप्त किया उसने फिर प्रणाम किया लड़की को प्रणाम कराया और कहा महाराज मेरी समझ में तो कोई लड़का आता नहीं है आम बताओ बताओ उस लड़की को किसको दे दू ब्रह्मांड में उसे देख करके रखी अरे राजन यहां काल का प्रभाव का पता नहीं चलता तुझे तो ये मालूम हुई है कि मैं थोड़ी देर यहां ठहरा और कितनी देर में सत्ताईस युग चौकड़ी निकली कलेर द्वापर सतयुग द्वापर कलेर त्रेता कल सतयुग द्वापर और सत्ताईस चौकड़ी व्यतीत हो गई तेरे सामने से तो पेड़ भी नहीं गए अब हम कैसे बताने किसको करने होगा यहां हमारे श्लोक में काल का पता नहीं चला उनको मालूम हुआ है कितनी देर पर उस देश में मर्त लोग में तो वहां सत्ता इतनी क्यों लाखों वर्षों की हुए फिर उन्होंने अच्छा जाओ भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया और उनके बड़े भाव भाई जो दाऊ जी हैं उनको दे दो अपने देश की अच्छा ये बताओ तब तक अब कृष्ण अवतार नहीं हुआ था जब वो लड़की को लेकर गया पृथ्वी से क्या हुआ कि पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई वो दूसरे ब्रह्मा हैं जो मेरी पर्वत पर रहते हैं और ब्रह्मा जी से कहा महाराज ने आप भोजन नहीं समा, सम, समा सकती तो वो मेरू पर रहने वाले ब्रह्मा उनको लेकर के शिव सागर कर गए भगवान ने कहा अच्छा हम अवतार ग्रहण करेंगे ये सारी बातें हो गई भगवान का अवतार हो गया तो वो वहीं था इतनी देर में तीसरी सारी बात तब ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम जब से आए हो तुम्हारी तीसरी सारी घटना हो गई और श्री कृष्णावतार हो गया उनके बड़े भाई जो दाऊ जी हैं उनको जाकर देखिए बाबू आए हो और बल दाऊ जी के लिए अपनी कन्या देखिए अब और उस समय रावण तक उस समय की जो लड़की वो बड़ी बंदी और बलदाऊ जी छोटे हाँ कहते हैं बलदाऊ जी आप नीचे ओर देखने लगे तो सिर्फ छोटी गिर जाए तो बलदाव जी ने अपना हल लेकर के उसके सिर से लगा करके यूं कर अपने बराबर अपनी खेती आगे की बात जो करके बोलिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्णात्परं किमपि न जाने नमो नवश्यामकामकामि प्रदेये कमलाकामसविदामप्रदेये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवक्लेशनाशाय गोविन्दाय नम नमः श्री श्रीपरम चरण कमल चिन्ह करुणाय भक्तजनाशवासाय श्रीराम कृष्ण गोविंद तो बहुत दिन तक विद्या अध्ययन करते रहे और उनके भाइयों ने समझा कि अब नाबाद लौट करके नहीं आएगा नैष्ठिकम मत उन्होंने समझ लिया है तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया गैस में प्रवेश नहीं करेगा तो पिता की संपत्ति उन्होंने आपस में बांट ली जन्म विवक्ष्य और पीछे से विद्या अध्ययन करके नागाव आए तो फिर नागाव में कहीं क्या भाई सब अलग अलग हो गए पर तो फिर तो मेरा भाग मेरा हिस्सा समझ गई हमने तो ये समझा कि तुम महात्मा हो गए और लौट के आओगे नहीं तो तुम्हारा हिस्सा तो निकाला ही नहीं और तुम्हारे हिस्सा में पिताजी आए उनको ले ले उनकी सेवा करो तो महाराज ने जाकर के अपने पिताजी से कहा क्या पिताजी आप मेरे हिस्से में आप आए हैं के पिता ने कहा करे तो अपने भाइयों की बातों पर विचार मत करें या हम तेरी जीविका का उपाय बताए देते हैं देख यहां अंग्रा गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो छठे दिन में जो कर्म किया जाता है षष्ठ दिन कर्म मूल्यम की तो उसमें वो मोह में पड़ जाता है उनको समझ में नहीं आता वो जानते ही नहीं है छठे दिन जो कार्य होगा उस लग्न में उसका उनको पता नहीं है त्वम वैश्वदेवे देश सूखते संशय विश्वदेवा विश्वदेव संबंधित जो दो सूक्त बोले जाते हैं उनको उनका ज्ञान ही नहीं है और तो उस समय तुम छठे दिन जाकर के विष्णुदेवी देवी संबंध दो सूक्तों को भूल जाना तो ब्राह्मण लोग तुमसे प्रसन्न हो जाए और यज्ञ में जो बचा हुआ धन है वो तुमको दे देंगे तो उनके पिता ने ये बात कही तो नाभाग जो है जहां ब्राह्मणों का यज्ञ हो रहा था वहां पहुंचे और उन्होंने वैसा ही किया दिन जो विश्व विश्वदेव संबंधी जो सूत्र बोले जाते थे तो ब्राह्मणों को याद नहीं थे और ये बहुत पढ़ा लिखा था था क्षत्रिय तब तो बहुत दिन तक गुरुकुल गुरुकुल में रहा जो तो बढ़ा था इसलिए वो दो सूत्र बता दिए <clears throat> बोल दिए